ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से तारीफ तुम्हारी तो तब थे लाते लड़कर सहजोरी से अब समय हमारा आता है ठहरो तुमको दिखलाएंगे लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगी हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैरता पानी पर आ गए बनाकर से तुम्हार्ग तेरी लंका राजधानी पर जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया लंका को भीषण आग लगा गया बेखौफ समुंदर पार गया जिनका तेजस्वी मुख निहार रेझे श्री सुरपन खाजी है जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सती साध्वी है बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके तब लखनलाल ने क्रोधित हो भेजा नकटे बूची करके बात बात में यो बढ़े बिना बात की रार दोनों थे रण सरी दोनों राजकुमार अंगद के मुँह लग कर उसने जब इस प्रकार मुँह की खाई तो सिया तो खिसिया कर खाड़ा तोला बोला क्या मौत खींच लाई आपे से बाहर हो उसने खाड़े का जब प्रहार किया कपने कर खंड खंड खाड़ा राघव का राघव को जय जयकार किया अब तो सब अस्त्र शस्त्र छोटे मल्लों के भात भिड़ंत हुए बलवंत दुरंत लड़ंतों के मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई कति अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितान्त किया पल भर में पत्थर पर पटका पटका दे कर प्राणांत किया लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार हाटों बाटों में घाटों में हर एक जगह यह बात चली फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली अपने अपने घर को देखो रण तो यह मरण समान हुआ लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे जिस पर भी दृष्टि डालते वह भय से सूखा जाता था पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया चला के शरी बिगड़ कर पहरी को मार धाय धाय साय साय अलबेला अकेला अलौकिक कुमार बुद्धिमान है तेजवान है और घोर ज्ञानवान है सबल प्रबल है विमल अटल है बाका विक्रम बली से गुणी है हठी है कुशलता चतुरता अभयता आगार चला के शरी बिगड़ कर प्रहरी को मार धाय धाय साय साय अलबेला अकेला अलौकिक कुमार प्रहरी को मार चला के सरी बिगड़ कर प्रहरी को मार चला के सरी बिगड़ कर रज रहा था सभा में जब रजनी चरराज द्वारपाल ने थाम ने आ कहा जय राजेश्वर राज तप से बच्चों की सेना में अंगद नामक कपि आया है अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में यदि आज्ञा हो तो आने दूम राजाधिराज की सेवा में इतना कहकर चुप हुआ जो ही ढ्योढ़ीवान बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है दूतों ने जिसके बात कही घर घर जिसका भय छाया है क्या काम यहाँ नटखट मुहफट ऐसे मटकर मरकट हत्यारे काम जो आया द्वार तोड़ घातक है राज दुलारे काम जो आया द्वार तोड़ घातक है राज दुलारे काम है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम चौरस्ते ही संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम मंत्री का प्रस्ताव सुना हुआ दसानन लाल सिंहासन पर तड़क कर बोला आँख निकाल मतिमान याज मति मंदन बन मत दे हारे हारे काम वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का बेहतर है यहाँ करे स्वागत आदर से बुलाए हम ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम अब राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझो मुझको व्यथा नहीं वह तो अपयस का टीका था कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं बानर से लड़कर खेल गया कायर्था कर्महीन था वह ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर मर गया वह फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए सुकृत मत है यह आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है यह दी रथ कंठ ने ले आओ भले प्रकार द्वारपाल ने आ कहा आए बाली कुमार रावण बोला कौन तो बतला अपना नाम हुआ कहाँ से आगमन क्या है मुझसे काम अंगद बोले लीजिए नमस्कार दस भार दूंगा चार जवाब मैं है जब चार सवाल हे महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघुबर का हूँ राज देश किस किंधा का सुत राज बानर का हूँ है पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ रावण बोला लिए हैं तूने जिसके नाम ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम अंगद अब बोले ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थे जब बाले काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे पर एक बात विस्मय की भगनी सुरपण खाजी को प्रतिदिन दस बदन देखते हैं इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं अब जान गए तुम राम कौन या पिछली और कथा कह दूं ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास भर का कह दूं श्री राम राज राजेश्वर हैं पुरुषोत्तम है परमेश्वर है बानर के तो गिनते ही क्या सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं उनका ही सेवक अंगद है कर्तव्य चुकाने आया है इस उल्टे राजसभा में कुछ सीधे समझाने आया है